सरकार जी के देवी के प्रातः काल हुई जब अपनी सेना लेकर के आ गया और वो जीने की आशा छोड़ करके आ गया युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए जुटा प्राण देने के लिए आ गया उस समय देवताओं ने भगवान राम से प्रार्थना की तो भगवान राम जी तैयार हो गए और उनकी सुंदरता का वर्णन पहले किया कि वो धनुष्पान लिए हुए श्याम वर्ण करीब सिर पर जटाओं को कसकर बांधे हुए और न फूल घुसे हुए भगवान इस प्रकार से तैयार हुए युद्ध करने के लिए करकट अपने पीठ में बांधे हुए हैं धनुष मार हाथ में लिए हुए हैं उनका समस्त शरीर बड़ी पुष्ट शक्तिशाली अरुण नयन उनके भगवान युद्ध के लिए जब देवताओं ने देखा कि भगवान युद्ध के लिए तैयार है ऐसा सुंदर स्वरूप है बड़े उत्साहित है तब उन्होंने फूल पाए अब आगे की कथा देखो क्या होती है युद्ध कैसे प्रारंभ होता है तो ये जो वर्णन अभी पढ़ रहे थे तुलसीदास जी का ध्यान कविता की तरफ ज्यादा चला गया और आत्मक वर्णन अधिक हो गया अलंकार भी हो गया मालोपमा मालोपमा मैंने पूरा का पूरा जो है वो एक बरसात का दस से दस से मानव खड़ा हो युद्ध क्या हो रहा है मानव बरसा ऋतु आ ऐसा भी बता बरसा ऋतु के जितने अंग हैं वो सब वहां युद्ध क्षेत्र में तुलना करने के लिए एक ही कमी मिल तो पूरा का पूरा वर्णन जो युद्ध क्षेत्र का बरसा ऋतु के वर्णन उसके रूप में कर दिया ये कवियों की परंपरा संस्कृत काल से जिस प्रकार चला रहा है वे लोग इस प्रकार से वर्णन करते हैं वही तुलसीदास जी ने उसी प्रकार से किया इसमें देखते हैं कि यही बीच में साक्षर नहीं इसी बीच में जब तक भगवान तैयार हुए युद्ध के लिए तब तक निशाकरों की सेना जो वो भी आ गई और कस्मता से आई अभी घनी माने वो बहुत लोग हैं और बड़ी भीड़ उनकी सबकी है सात के माने बिल्कुल पास पास एकदम से सटे सटे जैसे बहुत फील हो जाए तो लोग एक दूसरे से कहीं टकराने लगते हैं धक्का खाने लगते हैं इस प्रकार से वो चले आ रहे हैं देखी चले कलमों को कभी भटता हाँ, कभी भटता मैंने कभी भट भट मैंने भी बानर भी है वो भी सेना को आके देखा तो वो भी आगे बढ़े युद्ध करने के लिए उनसे अब काल के जन्म घट घटता प्रलय काल की वर्षा ऋतु जैसे आ गई हो ऐसे प्रलय काल के जन घन घटता घन के साथ में घटता के माने घनघोर बादल ऐसे करके सब सेना इकट्ठी हो गई अब इनमें शब्दावली जो है भट्टा और घट्टा ये वैसे तो भट्ट है भट्टा कर दिया भट्टा घट है या धन है उनका घट्टा कर दिया तो मान ये क्या है ये जब दीर्घ होता है या दीभत रस का वर्णन होता है तब शब्दों के कठोर शब्दों की जरूरत पड़ती है बोलने के लिए उच्चारण तो करने में जो थोड़े कठोर हो कहीं तो कोमल शब्दों की आवश्यकता पड़ती है जहाँ सुंदरता के भगवान का वर्णन करना है जहाँ भगवान राम का सीता जी का विवाह होना है वहाँ कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा वहाँ पर कोमल भी किया जाएगा तो कुछ कोमल शब्दावली है कुछ कठोर है तो जहाँ कठोर है तहाँ कठोर का प्रकार का वर्णन करके वीर और विभक्त रखता का जो वो भाव का अर्थ करते हैं तो बहुत कृपाण तलवार चमन हैं अब निशाचरों के पास तो आप तलवार ज्यादा तो सशस्त्र है तो वे लोग अपने कृपाण और तलवार चमका रहे हैं वैसे लगता है कृपाण और तलवार पर्यायवासी शब्द है लेकिन दोनों में भी अंतर जैसे बाहों के अनेक नाम है तो ऐसा लगता है जैसे पर्यायवाची लेकिन ऐसा नहीं भिन्न भिन्न प्रकार के सब बात उसी प्रकार से कतार की तलवार है तलवार भी तलवार है लेकिन तलवार वो जिसमें एक तरफ भाग कृपाण वो जिसमें कि दोनों तरफ भाग एक ऐसी गर्मी भाग गली का इधर में तो लग जाए इधर में तो लग जाए घुमाना न पड़े तो ऐसे करके भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थों और पात्रांतर है वैसे उनके नाम नहीं तो ये तो दोष हो जाए भाषा का या काव्य का दोष हो जाए अगर कसावत परिवार को ये कही हो और उन्हीं को दो दो दो बार में शब्दों का प्रयोग कर गए तो वो तो हम्म, दो हो जाए तो कहते बहुत पार तलवार चमन कहे जन जहाज दानी दमन कहे मानो दसों दिशाओं में बिजली चमक रही है तो तलवार ऐसे चमनती है जो जैसे बिजली चमक रही है और कजर तुरंत शिकार कठोरा अब हाथी घोड़े ये व्रत कर रहे हैं तो उनकी आवाज उनकी शक्ति शिकार का छोड़ा ये घोर घोर गर्जना कर रहे आवाज बहुत इन लोगों की आवाज हो रही है तो कहते हैं मानव हो घोड़ा तो ये कैसे लगते हैं कि मानव बादल गरज रहे हैं बलाहट मन बादल जैसे बादलों की गर्जना हो रही हो ऐसे बसों के चलने की घड़घड़ाहट हाथियों की सिंघार भूमियों की हिनाहट ये सब उसी प्रकार से हो रही है और देखो कि कटी अंगूर विपुल नर छाए ये बानर जो है वो आकाश में छाए कूद रहे हैं सब आकाश में छाए तो कूदते हैं तो आकाश में दिखाई देते हैं तो उनके लंगूर के मैंने उनकी लंबी पूछ है लंगूर कभी कभी बंदर को कहते हैं लंगूर नहीं वैसे संस्कृत में और जो भाषा बस करते हैं तो लंगूर के मैंने पूछ बंदर लंबी पूछ को पूछे को लंगूर कहते हैं तो लंबी पूछ हमारे बानर को कभी कभी लंगूर कह देते हैं तो ये तो रूह हो गया प्रयोग में आकर के शब्दों का भाव बदल जाता है प्रकार बदल गया इसलिए कभी लंगोर मन बानरों की लंबी लंबी पूछ है आकाश में जहाँ तहाँ दिखाई दे रहे हैं मनो इंद्र धनु को तो ये आए ऐसा लगता है कि आकाश में जब हो इंद्रधनुष जब बरसात तो होगी तो इंद्रधनुष भी दिखाई देता है तो मन ये बानरों की पूछे इंद्रधनुष जरूर दिखाई दे रहे हैं और उदय घोर बान जल धारा और सब उनकी चलने से धूल उठ रही है ऐसा लगता है कि पानी की धार बह रही है जब बरसात होगी तो पानी भी बहेगा नदियां भी उठनेंगी तो वो धूल मालूम पड़ती जलधार के समान बान बुंद भाई वृष्टि का पारा और पहाड़ों की वर्षा रही तो वो मानो जो है बरसात में जब पानी बादल आ गए तो पानी भी बरसा तो बाणों की वर्षा जो है बादलों की वर्षा बान बुंद भई वृष्टि अपारा और दोहत पर्वत करो प्रहारा दोनों तरफ से पत्थर फेंके जा रहे हम्म। मानव भी पत्थर फेंकते निशाचरों पर निशाचर भी पत्थर फेंकते मानवों पर सही तो पत्थर फेंकना क्या है कि वज्रपात जन पार ही बारह जैसे कि बिजली गिरना कहते हैं वज्रपात कहलाता है जब बादल बहुत आ गए बिजली चमकी तो कटवाती हुई बिजली गिरी तो उसको कहते हैं वज्रपात हुआ जब तो पत्थर क्या करते हैं बार बार वज्रपात हो रहा है रघुपत को विमान खिलाई भगवान श्री राम जी ने भी बाढ़ चलाए और ऐसे बाढ़ झड़ी लगा दी तब देखो जब वर्षा ऋतु आती तो कभी कभी झड़ी लग जाती माने पानी बंद नहीं होता बरस रहा लगातार बरसे चला जा रहा है कई दिन तक बरस रहा तो इसको कहते हैं झड़ी लगी ऐसे भगवान राम के बाद बरसा होने शुरू हुई तो इसके बाद इसके बाद एक बार निकलते ही सरासर सर अंत ही काफी झड़ी लग गई बाढ़ की तुम्हारे तो जैसे बरसात की झड़ी है तो रघुपति को भी बान खरीदाई भाई भय निश्चर समुदायी आशा लोग मरने भी लगे घायल होने लगे मरने कटने लगे तो लाचक बान जी चीर वीर टिक्का ही जब वे बाण निशाचरों के लगते हैं तो निशाचर वीर लोग चिकारते हैं चिकारते जोर से आवाज करते हैं चिल्लाते हैं जब बाण लग जाएगा तो कष्ट होगा दर्द होगा बड़ी जोर चिल्लाएगा जब मरे मरे तो ये ऐसा लागत बान भी सिख कर रही और घोर में घोर में जहाँ तहाँ वहीं पर रही और फिर वो घुर में चक्कर काटते हैं और जमीन पर व्यापार करते हैं ऐसे उनका छात्रों का बाढ़ लगने पर ये दुखा होती तो है निर्भर भारी अब उनके निशाचरों के बाढ़ लगते हैं खून की बहता है तो कैसे बहता है कि श्रवण शैल जन्म निर्धर भारी जैसे पर्वत है वो निर्भर मैं झरने बह रहे हैं पर्वतों के ऐसे खून बह रहा है उनका सोनित सर कादर भयकारी और सोनित की सरिता बहकर सोनित की सरिता बने रखी थी खून की नदी बह चली अब खून की नदी कैसी बह चली कहते हैं कि देखो कादर भयकारी जब नदी बहती चली जा रही बहुत जोर से बाढ़ आ गई उसमें तो अब नदी के किनारे खड़े लोग जो वो कायर लोग हैं उसको देख करके उनको डर लगता है जैसे खूब बरसात समय नदी बढ़ी हो जैसे गंगा जी यहाँ आकर खूब बढ़ रही हो बरसात आप किनारे पर खड़े हो दूर तक पानी बहता चला जा रहा हो आर में दिखाई दे तो जिन लोगों को तैरना नहीं आता वो पानी किनारे जा करके देख करके उनको डर लगता है लेकिन जिन लोगों को तैरना आता है है वो तो उसमें मौत देते हैं को तो उसी पानी कूद करके खूब नहाएंगे तो उनको डर थोड़ी लगेगा इसी प्रकार की युद्ध की नदी बहती देख करके तो जो काय लोग हैं उनको तो देख करके डर लगता है और जो वीर लक्ष्य है वो आगे वर्णन करते हैं उनका तो उन लोगों को तो बड़ा आनंद आता है उनको तो बड़ी शांति मिलती है सागर भयंकर सरिता चली पर पावनी कहते हैं प्रकार के कायर लोगों को फैदे करने वाली खून की नदी संदर्भ कर लेकिन ये नदी अपवित्र नदी है अपावनी है कोई गंगा जी जैसी पवित्र थोड़ा सोन कौन की नदी है ये अपवित्र नदी बैठी गई दो कूल कदर खरे चक्र अब अब नदी है तो नदी के दो किनारे होने चाहिए तो अब जो दो सेनाएं हैं मानव दो तक है एक सेना इधर तरफ एक उधर की तरफ खड़ी ये दोनों तट है उनके बीच में पानी खून की तरह से नदी बही चली जाए तो दोनों तट जो है वो दोनों सेनाएं दो तट है दो फूल गल और रथ रेत और उसमें रथ जो है वह समय जैसे तट के ऊपर बालू ऐसे सेना में रथ जो है वो बालू की तरह से लगे हैं और चक्र अवर्त और उसके पहिए जो है उनमें जो है वो रथों के पहिए जो उसमें पड़े हुए टूटे फूटे बह चले जा रहे हैं वो मानो उसमें दली की धारा की भवन है धारा बहेगी तो उसमें भवन भी पड़ेगी तो सजिए जो है वो भवन की तरह बहते चले जाते हैं तो इस प्रकार से बहुत भयावनी इस प्रकार से ये बड़ी भयंकर नदी अपवित्र नदी रुद्र की बहती चली जा रही है ये धुआ और जल जंतु गज पद चर तुरत खर विविध वाहन को गने अब नदी बहेगी तो उसमें जल जंतु भी होंगे अब इसमें रुद्री की नदी में जल जंतु क्या है तो गिरा दिए कि जितनी सवारियां वगैरह है सब जल जंतु है गज हाथी पदचर पैदल चलने वाले तुरंत घोड़े पर चढ़े लोग खर कटे ये विविध वाहन को गने जो नाना प्रकार के जितने वाहन है इनकी कौन गिनती करे ये सबसे सब जन जंतु की तरह से उस नदी में बह चले जा रहे हैं हम्म, अच्छा शक्ति तो मत सर्पचाप करें चर्म कमट गने अब देखो इसमें नदी की धारा में और क्या क्या है सर शक्ति तोमर बाण ये सर्प और चाप तरंग जब बाप सीधा सीधा ऐसा करके होता है इस प्रकार से वो जब चलता है तो सांप की तरह खनखनाता हुआ चलता है ऐसी करके बाढ़ बाढ़ क्या है जैसे ये उसमें भरे चले जा रहे हैं सर्प की तरह एक तो बाढ़ जो ऊपर से आते लगते हैं लोगों के जीरों के दौड़ धरी लगी बरसात हो रही है और वो पाँव जब गिरे नीचे और पानी के दूसरे के साथ में पैसे नहीं और सांप जैसे लगने लगे हूँ यह सांप रहे हैं शक्ति शक्ति मैंने भाला जैसा जो फेंक के मारा जाता है वो भी बड़े सांप कोई छोटे सांप कोई बड़े सांप ऐसे लगते हैं ऐसे तोमर भी घर पर करके चलाता है वो भी ऐसी लंबा अस्त्र है ये फेंक करके मारे जाने वाले तो ये सब अस्त्र जो उसमें सांप जैसे दिखाई देते हैं वही चले जा रहे हैं और चाप तरंग और धनुष धनुष तो बहुत लोग लिए हुए थे निशाकरण में थे और निशाकर मर गए और बढ़े जा रहे हैं तो क्या लगता है कि धनुष जैसा घोड़ा गोलाकार ऐसे होता है मन तरंग जैसे वो पानी की तरंग जैसे हो इस प्रकार तरंग का आकार धनुष बढ़े चले जा रहे हैं और चर्म चमक बने और जो चर्म जो धार जो लोग जो, जो लोग ये लोग सब अपने अपने घाने लिए हुए तो वो भी अब खून में बही चली जा रहे हैं तो घाने बही चली जा रहे हैं तो बिल्कुल साफ लगती कछुआ आ जा रहा है तो ये सब इस प्रकार से समझे हो समानता देख देख करके बता दिए कौन कैसे कौन कैसे क्या लग रहा है इस प्रकार से सब हो गया तो कहते हैं वीर पर जन तीर कर और जब ये ये बड़े बड़े योद्धा लो ये सब घायल होकर के जब मरने लगते हैं गिरने लगते हैं तो कैसे गिरते हैं कहते तर तीर जैसे नदी के किनारे के वृक्ष गिर जाए जब नदी में बाढ़ आती है तो बीच किनारे पे जो पेड़ होते हैं वहां पानी जैसे उनकी जड़ में टकराना जड़ खुल गई धक्का लगा और पेड़ में वो गिर गया जैसे नदी के किनारे का पेड़ पानी के बहाव में गिर जाए ऐसे ये सब लोग मर मर करके उसी में रुद्र की धारा में गिरने लगे मज्जा बहुत थे अब नदी धारा बहेगी तो नदी के ऊपर जो वो खेला भी बहता बरसात के रूप में तो खासतौर से देखेंगे तो पानी में खेला भी दिखाई देगा तो फेना ये क्या है कि जब जो खून बहता खून के साथ में उनकी चर्बी भी बहती है तो चर्बी रहती है जो खून के ऊपर उतरा रही है वो मज्जा जो है वो उसके ऊपर फेन की तरह से विकसित होता है करके भी विकसित कर दिया था सारे लोगों के लिए बड़ी भयंकर नदी दिखाई देती है हम्म। लेकिन फिर कहते हैं सुबटन के मन कह जो वीर लोग हैं उनको तो ये युद्ध देख करके उनको लगता भाव जिंदगी में एक बार युद्ध देखने को मिला ऐसा तो बार बार मिलता नहीं और फिर इस युद्ध में वो भी भाग लेना चाहते हैं वो भी पूछते हैं <clears throat> जो वीर लोग हैं ये तो ऐसा टैंकर युद्ध देख करके चुपचाप खड़े नहीं रह सकते वो भी एक बार अपने सशस्त्र खाओ कूदो हम भी युद्ध करें ऐसा उत्साह उनके मन में आता है जैसे कि नदी की धारा देख करके तैरने वाले जो है वो आप कहते हैं आप खूब नदी खड़ी आप तैरेंगे खूब नहीं तो जहाँ पानी नदी में पानी घुटनों तक हो तो बेचारा कोई तैरे कैसे तो उसमें तैरने का कोई मजा नहीं और जब खूब पानी ऊपर तक हो गया डुबाऊ पानी हो गया तब तैरने वालों को मजा आने लगा जहाँ खूब तैरेंगे खूब पानी आ गया ऐसे जब युद्ध का इस प्रकार की बाढ़ आई युद्ध की तब ये वीर लोग जो वो उसमें युद्ध करने के लिए कूदने लगे अभी देखो ये अलंकार मानुकुमा काव्य का बहरी है आगे और बढ़ता है तुलसीदास जी को ढूंढ ढूंढ ढूंढ ढूंढ करके हर था चंदना बंसी खेलत चित दे 他 देख भयंकर भूत तो साधारण को भूत भी मर गया था तो भूत भूत भविष्य भूत के मारे पाप बस तो भूत और फिर पिशाच उन्हीं में से जो मर गए वो जरा खराब है मैंने अशुभ कर्म किए घोर कर्म किए हैं तो ऐसे लोग जो पिशाच हो गए फिर मैदान हो गए तो ये समस्त में से एक कोटि है ज्योतिर्लिंग में से है ये है ये सबके सब नाना उनके नाम है महाकाल सबके सब है एक से एक भयंकर रूप धारण किए हुए हैं समाज में आप कभी कभी देखेंगे कभी कभी बड़े भयंकर पुरुष भी दिखाई देते हैं उनको देखकर ही लगने लगता है कि किसी बूचड़ खाने का ये हम्म, जानवरों को मारने वाला कोई आदमी है कटाई देखने से सूरत से ही मालूम पड़ता है कराल रूप हो जाता जैसे कर्म करते हैं वैसा उनका रूप विकराल हो जाता है वो रूप विकराल क्यों हो जाता है क्योंकि उनके मन बुद्धि जीव जो है उनका जो वो वही रजोगुणी तमोगुणी हो जाता है तो विकराल कहा जाते है और जैसा जीव विकराल होगा तैसे उसको शरीर भी विकराल मिल जाता उसका एक्सप्रेशन होने लगता है उसी प्रकार जैसा अंतरिक्ष था वैसे उसके शरीर से भावों से उसी प्रकार सपने लगता है ये इसलिए अब किसी के मुख पर सौम्यता दिखाई देती है जिससे माने उसमें अंतर हृदय में शांति है विश्राम है प्रियता है तब सौम्यता मुख पर लगती है अगर मुख के ऊपर खराबता लगती है कठोरता दिखाई देती है तो माने ऐसा स्वभाव ही ऐसा ही है मन बुद्धि ऐसे है उसके स्वभाव ही उसका ऐसा है तब उसी प्रकार से मुख के ऊपर वैसे ही भाषित होता है तो ये सब आंतरिक दशाएं जो है उनका प्रभाव शरीर पर बाहर पड़ता हुआ साफ दिखाई देता है ध्यान दें तो पता चल जाता है उसे देखने से मुख को देख करके आंतरिक भावों को पता चल जाता है अनुमान से जान जाते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार का है और मानसिक दशा को देख करके जान जाते हैं कि हमारे कारण शरीर के सतगुण रजगुण किस प्रकार के उनका भी अनुमान लग जाता है माने मूल कारण जो है व्यक्तियों के कर्मों का प्रभाव कारण शरीर पर पड़ता है अपने कर्मानुसार व्यक्ति सत्वगुण प्रधान रजगुण प्रधान तमोगुण प्रधान हो जाता है और फिर जैसा उसका कारण करिए और वही फिर उसका एक्सप्रेशन उसके मन बुद्धि में आकर के दिखाई देता है मन बुद्धि उसी प्रकार से किसी के मन शांत है किसी के शांत है किसी के क्रूर है किसी भयंकर है किसी के सत्कारी कल्याणकारी करवा है लोगों के हृदय में ऐसे भाव है तो नाना प्रकार के जो भाव है वो उनके कारण शरीर में स्थित उनकी वासनाओं के अनुसार और फिर जैसे हृदय के भाव है मृदुल हो कि कठोर क्रूर हो वैसे ही फिर उनका शरीर है शरीर की बनावट वैसी है और वैसे ही उनका उनकी अभिव्यक्ति भी उनके मुखमंडल पर और कार्यों के द्वारा वाणी के द्वारा वो सब होती दिखाई देती है ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वाणी तो जरूर कठोर है हा? बोलते तो जरूर खड़ जाते हैं झगड़ा करते हैं लड़ाई करते हैं लेकिन मन सब कभी कभी लोग बोलते हैं मन बस मन अच्छा होगा तो फिर कैसे इस प्रकार से जो और एक्सप्रेस इस प्रकार से कैसे होगा इसलिए कहीं ना कहीं मन में भी इस प्रकार के विकार रहते हैं वो वाणी के द्वारा व्यक्त होते हैं चेहरे के एक्सप्रेशन के द्वारा व्यक्त होते हैं तो ये सब के सब जंगे है बताने के लिए शास्त्र है वो हो ये भूत पैदा के साथ इत्यादि है ये भी अपने शास्त्रों में इनका सबका वर्णन आता है इन सब ये सब इनका सबका वर्णन पौराणिक ढंग से हाँ? वेदांत के सिद्धांत के अनुसार बस सीधी की बात कि जैसा कारण शरीर की बात है वैसे मन बुद्धि वैसे ही शरीर वैसे ही करनी इसमें तो बहुत बातें सिद्धांत से मिलता है अब उन्हीं का अगर विस्तार वर्णन करो पौराणिक भाषा में तो फिर जितने हम नाना प्रकार की बात में तो नाना प्रकार के तत्प्राणी उसी प्रकार से बहुत प्रकार के प्राणी हो जाएंगे कोई क्रूर होंगे कोई मधुर होंगे ये सब देखने माने लगेंगे तो फिर उनका परिणाम इस प्रकार से होने लगता है ये सब ये सब क्रूर प्राणी है अब देखो इनको सबको चाहिए है खून की नदी में स्नान करने में मजा आता है ऐसे समाज में भी देखें कुछ व्यक्ति इस प्रकार के हैं कि अपना लाभ हो चाहे हानि हो उससे कुछ मतलब नहीं दूसरे को पीड़ा पहुंचाने में बड़ा मजा आता है और जहाँ दूसरे को तकलीफ हुई तो गदगद हो जाते कहना देखो कैसा नचाया कैसा परेशान किया खुश हो ये खुशी किस प्रकार की होगी ये भूत के पाचन जैसी है मैदानों जैसी प्रसन्नता है ये शांति प्रसन्नता इस प्रकार के जो दूसरे को कष्ट देकर के व्यक्ति सुखी तो सबका इनको बताने के लिए संकेत इस प्रकार करते रहते मज्जन भूत पिशाच बिताना और प्रमत महाझोटिंग कराना कहाँ का कंकन है भुजा उड़ाही हाँ, कहते हैं कि देखो कि जो है ये कौवे और कंक मने चील कौए और जो चील है ये है लय भुजा उड़ाही ये किसी की माँ कटी पड़ी है तो लेकर के उन्होंने उसमें दादी ले उड़े हम्म, और एक छीन एक लय खानी क्यों लेकर के भागे खाने के लिए और जब एक लेकर के भागता है तो दूसरा दौड़ करके उसको छीन लेता आपसे उससे एक दूसरे को छीन करके खाते हैं कौए चील है हैं अब